अब मैं दावत खिताब दे रहा हूँ आलमी मजलिस तहफ़ ख़त्म बखर के ज़िले रहनमा जनाब डॉक्टर दीन मोहम्मद फरीदी साहब को मुख्तसर वक्त के लिए तशरीफ़ लाते हैं और ख़िताब फरमाते हैं जनाब डॉक्टर दीन मोहम्मद फरीदी साहब जारी सारी है बड़े बड़े रहबरान कौम हमारे कराम आपसे खिताब कर चुके हैं मसला ख़त्म नबूत और मुकाम रिसालत पर कल से बात हो रही है आपको अच्छी तरह इलम हो चुका है कि अलकुफ़र मिलत वाहिद हो कर के इस वक्त रूह मोहम्मद मुसलमानों के जिसम और दिल से निकालना चाहता है और मुसलमान जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमान मुतहद हो चुके हैं कि हमने मोहम्मद रसुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और इसमत की हिफाजत करनी है रह गए हमारे हुक्मरान सतावन में मालिक के थोड़े थोड़े से वो भी जाग रहे हैं उनकी मजबूरियां हैं मैं इस पर तफसील से जानना नहीं चाहता इस करके उनमें कोई ना नूरुद्दीन जंगी नज़र आता है ना सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी आता है यहाँ मौलाना नईम साहब तो सैदना बकर सद्दीक का इश्क बयान कर रहे थे मियाँ और बकर सद्दीक का इश्क के ऊपर तो चलना जो है वो पुल सरात पर चलना है अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों में कोई नूरुद्दीन जंगी पैदा कर दे कोई सलाहुद्दीन अयूबी पैदा कर दे औरंगजेब आलमगीर पैदा कर दे आमीन को कह दो दोस्तों बात यह है कि जंग आप तड़प रहे हैं अगर मैं ये अर्ज कर दूं कि इस जंग में आप भी शामिल हो सकते हैं टैनी जोर हो गया या फिल्म का डायरेक्टर हो गया उसकी गर्दन हमारे हाथों से दूर जरूर है मगर आप अगर मेरी बात को माने तो आपके हाथों में है यहूदियों की मीशत तबाह कर दो जो उनका बना हुआ माल है वो खुद इस्तेमाल ना करो नेस्ले हो गया लेबर बिरादर हो गया पेप्सी कोला कोको कोला ये हो गया यार लस्सी पी के जी लो ओ जाटो जब दूध लस्सी पीते थे तो तुम्हारे बाजुओं में भी ताकत थी टांगों में भी ताकत थी अब तुम्हारे से उठा नहीं जाता पेप्सी पीने वालों से एक पेप्सी पीने के वास्ते एक रुपया बीस पैसा इसराइल को जाता है पता है आपको मत भी हो छोड़ दो लेक्स लैब बॉय से मत ना हो छोड़ दो नेस्ले का पानी मत पियो अपने नलके का पानी तुम्हें नहीं मिलता तीन अगर ये मुसलमान कौम इस पर आमादा हो जाए मैं दावे से कहता हूं कि एक महीने के अंदर अंदर यहूदी मुंह के बल तुम्हारे कदमों में पड़ा होगा हुक्मरानों से अर्थ दोनों बड़ों से मिया साहब से और आसफ जरदारी से हमारा मुल्क साठ अरब डॉलर का मकरूज है तुम्हारा 400 अरब डॉलर बैरून मुल्क है तुम्हारा 400 अरब डॉलर बैरून मुल्क है तुम वो वापस ले आओ वो 60 अरब इस मुल्क को कर्जा दे दो तुम ही अपने मकरूज बना लो कौम को तुमने मकरूज बना दिया अपना पैसा अयाशी के लिए यहूदियों को दे दिया वो पैसा तुम्हारा नहीं है तो कौम का यार चलो हम तुम्हारा ही मान ले तुम वापस लाओ कौम को कर्जा दे दो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से हमें छुड़ा दो अल्लाह तुम्हारा भला कर देगा क्यों काजी साहब ले आओ मगर मियाऊ बिरादरान मैं वहीं आ रहा हूं भाई मैं वहीं आ रहा हूं मियाऊ बिरादरान तुम क्या लाओगे तुमने तो निगरान वजीर आजम के लिए पेश कर दिया आसमान जहांगीर का नाम गद्दारे खत्म नबूत तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम कहते हो मैंने एटमी धमाका किया जब वो एटमी धमाका कर रही तुम कर रहे थे वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के खिलाफ जुलूस निकाल रही थी उसकी मसनू कबर बना करके उसके ऊपर जूते मार रही थी तो मैं तो वो भी शर्म नहीं आई पहुंच गए हो फातह खानी के लिए और तुम्हें कहते हो कि वो मिर्जई मेरे बहन और भाई हैं तुम तो इस कौम को धोखा दे रहे हो और लोगों बात सुनो आसफ जरदारी तो जो है वो है ये मियाऊ बिरादरान का हाल है तुम तो जाग जाओ अब क्या पंजाब से भी गैरत अख्तियार करो जिस तरह सूबा सरहद और बलोचिस्तान मजहबी लोगों को असम्बलियों में पहुंचाता है पंजाब वालों तुम पहुंचाओगे पहुंचाओगे धोखा तो नहीं दोगे तुम चंद ओलमा को असम्बलियों में पहुंचा दो ये चनाब नगर का ऐवान महमूद ये भी खत्म हो जाएगा पहुंचाओ तो सही ओलमा को अगर ऐवान महमूद की दीवारें खुद ब खुद बुनियादे ना गिर गई तो फिर कह देना तो दोस्तों बात यह है कि आखिरी बात कह करके मैंने सिर्फ आपसे कहनी है मैं जब बखर में ड्यूटी है पीरो मुर्शद हजरत खाजा खान उम्मद साहब रहमत ने लगाई थी तारीख को उठा के देख लो उस वक्त बखर का एसपी मिर्तजई था सेशन जज मिर्तई था एडिशनल सेशन जज मिर्तई था प्रिंसिपल मिर्तई था अट्ठाईस अहम ऑफिसर मिर्जई थे आज आपको तलाश किया मिर्जई नहीं मिलता मैंने कोई जुलूस नहीं निकाले जलसा भी साल में एक मौलाना अल्लाह बसाया मुझे तारीख देता है वो जलसा करता हूं कोई जलसे नहीं किए क्या किया जैसे रात काजी साहब आपसे बता रहे थे कि खत्म नबूत के पास इतना लिटरेचर है ले जाए उस लिटरेचर का सही इस्तेमाल किया मैंने बच्चों को नहीं दिया वो लिटरेचर प्रोफेसरों को वकला को अदालतों में जनाब हर पुलिस वाले को वो लिटरेचर पहुंचाया कुछ अहम किताबें गिफ्ट ऑफ आर मैं तो गरीब आदमी हूं कभी मैं किसी दोस्त की मिन्नत करता हूँ कभी किसी की कभी हजरत से मौलाना इसमाइल सुजाबादी की कभी मौलाना अल्लाह वसाई से कहता हूँ रहम कभी मौलाना अजीज़ुलरहमान से वहाँ से कुछ अहम किताबें मिल जाती हैं गिफ्ट फार कादियानियत जैसी वो कभी जाकर शहशन जज को देता हूँ कभी जा कर के जनाब पी को देता हूँ पी को देता हूँ वो किताबें फिर पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो सौ फीसद नहीं तो चालीस फीसद सही खत्म नबूत के बरकर होते हैं फिर मैं क्या करता हूं कि जब ये मौलवी मोहम्मद अली मेरे साथ था मैं ऑपरेशन हुआ वहां फून गया अस्पताल में कि मिर्जइयों ने दो ही घर है मिर्जइयों के वहां छह कनाल जगह है मिर्जइयों के वकफ के मोर्चे बना लिए हैं तीन अतराफ में पुख्ता मैंने दोस्त भेजे उन्होंने आकर के फोटो दिखाए के बन गए मैं मौलवी मोहम्मद अली अपने बेटे को लेकर के इसके सहारे दूसरी तरफ मौलवी महमूदुल हसन डीसीओ पे गया डीपीओ पे गया जनाब तीसरे दिन मोर्चे गिर गए तीसरे दिन मैंने कोई जुलूस नहीं निकाला जुलूस निकालता मार धाड़ होती जज्बात में आते साथियों के ऊपर मुकदमा होता मेरे ऊपर मुकदमा होता फिर भागते फिर मौला इसमाइल सुजाबादी से कहते हजरत मुकदमा हो गया भाई किया क्यों था या अभी हमारे साथ ये हो जाता पीछे क्यों किया था ये अल्हम्दुलिल्लाह डीपीओ साहब ने एसएचओ ने डीएसपी ने खुद ही गिरा तो दोस्तों जब काम करो हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं इस लिटरेचर का जो यहां से खत्म से मिलता है इस लिटरेचर का सही इस्तेमाल करो अगर आपने सही इस्तेमाल कर लिया छह महीने के बाद आपको मिर्जा ही नजर नहीं आएगा छह महीने के बाद क्यों जो नौजवान लिटरेचर पढ़ेगा उसका खून खोल लेगा मिर्जई को देख करके दे तेरे यारी दब दे घुसन मार साढ़े चार उसका बना देगा पिछले सत्ताईस जुलाई को भी इसी महीने के हुआ इसी साल के हुआ रात को कूट के मुझे फोन आता है कि जी हमें तबलीग करता मैंने यू किया मैं शाहबाज सुबह जनाब वो जेल में डीपीओ मुझे कहने लगा यार इसे पीटता मैंने कहा जी ठीक पीटता क्यों मैंने कहा उसने मुकर, उसने दलाल लेने तो मेरे सामने आए वो जट्टों को जो तबलीग करता था तो जट्टों के पास तो यही की दलील है वो है घुसुन पिटा है मुकदमा करो वो गया जेल गया वो सिविल जज ने जमानत ले ली अब मुल्क से छोड़ गया भाग गया जमीन बेच गया तो दोस्तों जो फिर वर्कर उठेगा कोई कारकुन उठेगा वो जब मिर्जई की करे पिटाई तुम तो उसकी पुष्ट पर आ जाओ ये है काम करने का सलीका आज भक्कर के अंदर कोई मिर्जई किसी तीन चार घर बाकी रह गए किसी मुसलमान को उसकी जरूरत नहीं है सलाम कर ले किसी की किसी अदालत में जा करके सलाम नहीं करेगा मिर्जई कहेगा अपने आप को कर ले अगर उसकी वही पिटाई न कह हो जाए तो फिर कह देना कि दीन उम्मत फरीदी तेरा काम नहीं है वाखिर